यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीमद्भागवतम दसम स्तन अध्याय बीस के श्लोक चौदह से चौबीस पर दिया गया हरिद्वार में वर्ष 2001 में एक से सात मई तक आयोजित डेरू गीत सप्ताह के अंतर्गत एक मई की सायंकालीन बैठक में यह संपन्न हुआ संगता सिंधु शुभे स्वसनोर्मिमान् अपक्वयोगिनां चित्ताम् अपक्वयोगिनश्चित्ताम् कामात्तम् गुणयुगयथा गिरयो वर्षधाराभिः हन्यमानान् विव्यथुः अभिभूयमाना व्यशनैः यथा धोक्षयचेतसः वर्षा काल में नदियों में पानी बहुत भर जाता है और बड़े वेग से नदियां समुद्र के तरफ जाती हैं तो जहाँ समुद्र का संगम होता है नदियों का और खास करके कोई नदी यदि पर्वत पर से गिरती है समुद्र में तो बहुत जोर की आवाज होती है पानी वहां पर अधिक आंदोलित होता है क्षोभ है यहाँ कहा जब ब्रज लीला का वर्णन किया जा रहा है तो समुद्र का वर्णन क्यों सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं प्रश्न हो सकता है श्रीपा सनातन गोस्वामी जी कहते हैं उन छोटे छोटे बच्चों के लिए मानसी गंगा आदि ही समुद्र थे उस पर झरने कोई गिर रहे हैं छोटी छोटी नदी तो उससे आवाज आ रही है ऐसा लग रहा है इसी तरह से समुद्र क्षुभित हो अथवा जो वर्णन किया जा रहा है तो अन्य भी दृष्टांत ले रहे हैं वर्षा काल में नदियां समुद्र में गिरती है शरीर भी संगत है सरिताओं के नदियों के नदियों से संग होता है समुद्र का सरित कहते हैं जिसमें पानी सरवे बहे उसको सरित तो सरिताओं के संग में सिंधु चुप छुभ है शुभित हो रहा है साथ ही साथ वर्षा काली में वायु के झकोरों से जो तरंगे उठती है किनारे पर स्वसन उर्मिमान जिस प्रकार अपक्व योगी कच्चा जोगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर शुद्ध है गुण युग गुण का अर्थ विषय और युग का अर्थ है युक्त जत्था पक्का योगी किसको कहते हैं और कच्चा योगी किसको कहते हैं या अपक्व योगी शब्द शास्त्र बताता है कि जब कोई योगी अपने चित्त की वासनाओं को पूरा पूरा रंधित कर देता है जला देता है इसे पानी में कुछ चीज पकाया जाता है बीज पकाया जाता है और पका दिया जाए तो फिर बोने पर जमेगा नहीं अंकुरित तो नहीं होगा कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनके हृदय की वासनाएं पूर्णता समाप्त हो जाती हैं संसारिक वासना और वे संसार में रहें या कुछ भी और उनका चित्त विषयों के संग से क्षुभित नहीं होते उन विषयों को भोगने की वासना उत्पन्न नहीं होती है प्लान नहीं होता परंतु अपक्व योगी विरध कचरा जो भी है उसको चाहिए कि विषयों से बच करके रहे या नदियों को स्त्री के रूप में कहा गया है और समुद्र को धीर गंभीर गंभीरास योगी के रूप में प्रस्तुत किया गया इतना बड़ा योगी लेकिन वह अभी नदियों के संजोग से शुद्ध हो गया के लिए भी विषय अविश्वसनीय है विश्वास नहीं करना चाहिए बच कर रहना चाहिए यह है शिक्षा है योगियों का साधकों का चित्त विषयों के संपर्क से शुद्ध है योगी जन अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करते ये घटना घटी थी उन्होंने इतिहास सुनाया भगवान शिव बड़े ही गर्व के साथ भगवान से प्रार्थना किए कि आपका मोहिनी रूप हम देखना चाहते हैं भगवान मना कर रहे थे इनडायरेक्ट में स्पष्ट करे तो तो रूप कामियों के लिए प्रिय है आप क्यों देखेंगे आप तो जितेंद्रिय हैं महान पुरुष हैं कारांतर से भगवान ने कहा कि आप वैकुंठ में आए हैं मेरा आपका स्वागत करना मेरा धर्म है लेकिन आपको फजीहत में डालना ये ठीक नहीं है आप स्त्री को क्यों देखना चाहते हैं और पूरे समाज के साथ मानो भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं हम ऐसे नहीं हैं कि इस चक्कर में आ जाएंगे प्रभावित हो जाएंगे देखना चाहते हैं आपकी लीला है एक बार देख लें और जब भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया तो उनको ये भी पता नहीं चला कि ये भगवान दिखा रहे हैं इतना तक पता नहीं चला और कमारी जी काम समुद्र में गोता खाने लगे जहां जहां गए उनका देव शरण हो गया तो यह इतिहास में सुखदेव गोस्वामी उस उत्तर में बता रहे हैं भगवान शिव का वीर भी प्रतीत हो गया इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए कब आदमी को गिरा देगा नीचे बेटर है कि विषयों से संपर्क ही न हो जैसे भी यदि समुद्र में नदियां न गिरे तो समुद्र बेचारा क्षोभित नहीं होगा संजोग से बचना चाहिए अपने आप मन धीरे धीरे शांत हो जाते हैं सारे विषयों को अपने इंद्रियों में न भर करके भगवत विषयों को भरना चाहिए इस श्लोक में है शिक्षा अनुपद्य शिक्षा बता रहे गिरयो वर्ष धाराभिर्हन्यमाना न विद्यसु अभिभूयमान व्यसन जथा धोक्षज चेत और का अर्थ है जो प्राकृत इंद्रियों की पकड़ से बहुत परे हैं दिव्य जिनकी लीला रूप गुण नाम सब कुछ अप्राकृत है और किसी भी जीव की प्राकृत इंद्रियों से उसका ग्रहण नहीं होता है तो ऐसे अधोक्षज में जिनका चित्त लगा हुआ है सदा वे लोग किसी भी सांसारिक दुख से कभी विचलित नहीं होते हैं अधोक्षज में चित्त को रखने वाले लोग बड़े बड़े व्यसनों से दुखों से अभिभूत नहीं होते हैं इसी प्रकार गिरया पर्वतों पर वर्ष धारा भी वर्षा की बूंदे गिरती हैं धारावाहिक लेकिन फिर भी न विद्यते व्यथित नहीं होते पर्वत दुखी नहीं होते हैं कि हाय हम पर वर्षा गिर रही है वर्षा की बूंदे गिर रही हैं दुखित नहीं होता बल्कि वर्षा गिरने से पर्वत और स्वच्छ हो जाता है उसका तेज बढ़ जाता है धूली अपसारण होता है कई तरह से साफ हो जाता है इस तरह से भगवान में जिनका चित्त लगा हुआ है उनके जीवन में कोई कठिनाई आती है तो उस कठिनाई से विचलित नहीं होते हैं बल्कि उनकी भक्ति उनका तेज और बढ़ जाता है दुखों में क्यों बढ़ता है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं दैन्य वृद्धिया गर्वा सुयादि मालिन्य रहता एवं भवंती किया जब दुख पड़ता है किसी भक्त पर सच्चे भक्त पर तो वह उस समय दैन्य का अनुभव करता है दीनता और दीनता जब अनुभव होती है तब गर्द और असूया किसी के गुणों में दोष निकालना द्वेष करना यह सब अपने आप समाप्त हो जाते हैं इस संसार में मनुष्य अनेक दोषों से मुक्त हो सकता है परंतु असूया दोष बहुत बड़ा दोष है असूया का अर्थ होता है किसी के गुणों में दोष निकालना इसको इंग्लिश में फॉल्ट फाइंडिंग चीज असूया और जिसमें असूया न हो वो है अनसूया कभी दोष किसी में निकाला ऐसे ऐसे महान पुरुष इस पृथ्वी पर हुए हैं जिन्होंने कभी किसी का दोष देखा ही नहीं उनको दिखाई नहीं दिया और छोटे छोटे गुण उनको बहुत बड़े बड़े रूप में दिखाई देते कभी दोष नहीं दिखाई दिए भवता के दिन होते हैं धन प्राप्ति के दिन होते हैं मान प्राप्ति के होता है उस समय व्यक्ति अवश्य गर्व का अनुभव करता है कि मैं कुछ हूँ और इस कारण से कुछ लोगों का तिरस्कार करते हैं भगवान दुख देते हैं वैष्णव पर अपने भक्तों पर इस तरह से तो उस दुख से वो अभिभूत नहीं होते हैं ऐसा नहीं भजन छोड़ देते हैं या भगवान पर अविश्वास कर लेते हैं नहीं जैसे पर्वतों पर वर्षा की बूंदे गिरती हैं लेकिन पर्वत कभी घबराए नहीं कभी चिल्लाए नहीं कि क्या हो रहा है सहते रहते गोस्वामी तुलसीदास जी इसका कुछ रूपांतरण करते हुए कहते हैं दिन दया घात सहि गिर कैसे हल्के बचन संत समझे पर्वत समूह बूंदों के आघात को कैसे सहते हैं जैसे खल के वचन को साधु लोग सह बहुत से अपमानजनक बातें संसार में सुनने को मिलेंगी आप कितना भी अच्छा जीवन जीवित की रही है कुछ भी अच्छा कीजिए लेकिन दोष निकालने वाले संसार में मिलेंगे और एक नहीं ज्यादा दोष ही निकालने वाले मिलेंगे यह संसार का स्वरूप है इसलिए घबराना नहीं चाहिए जब कोई व्यक्ति किसी की कभी निंदा न कर रहा हो तब तो चिंता की बात है कि भाई निंदा क्यों नहीं कर रहा है क्या बात है हाँ ये ये चिंता की बात है श्री प्रभुपा जी कहते थे कि हरे कृष्ण आंदोलन के विषय में बहुत लोग कुछ कहा करते हैं उल्टा सीधा भक्त लोग आकर के कहते थे प्रभुपा जी ऐसा इधर न्यूज पेपर में निकला था इतना है तो प्रभुपा जी कहते थे ओ तब सच्चा प्रचार हो रहा है प्रभाव हो रहा है ना कोई बोले ही नहीं कुछ तब तो माना जाएगा प्रचार हो ही नहीं रहा है तो ठीक हो रहा है ऐसे कई बार शिल प्रभुपा जी कहते थे तो दुख आते हैं कई प्रकार के दुख आते हैं जैसे त्रिताप अनेक जीवों से मनुष्यों से दुख प्राप्त होते हैं देवताओं से दुख प्राप्त होते हैं और अपने आप शरीर में मन में भी अनेक दुख उत्पन्न हो जाते हैं जिनका चित्त श्री कृष्ण में लगा हुआ है जो श्री कृष्ण के माधुरी के आस्वादन में है उनके लिए कौन बड़ा दुख दुख है जो बहुत बड़ा सुख मिल रहा है तो उस सुख की तुलना में ये दुख कुछ भी नहीं संसार का सबका अपना कुछ भी विनाश हो जाए उनका चित्त विचलित नहीं होता भयावह दुख के समय में भी उन्हें सुख की प्रतीति होती है श्रील रूप जी ने एक पद में लिखा है जेठ की दुपहरिया है और श्री राधा रानी श्री कृष्ण को देख रहे हैं एक जगह से तो राधा रानी खड़ी हैं एक पत्थर पर सूर्यकांत मणि पर सूर्यकांत मणि सूर्य के किरणों में पिघलने लगता है बहुत गर्म हो जाता है तो राधा रानी उस पत्थर पर खड़ी है और बहुत ही झकोरा चल रहा है गर्म हवा चल रही है ऊपर से सूर्य की किरण नीचे पैर में फफोले पड़ रहे हैं लेकिन वो कृष्ण को ऐसे स्तब्ध देख रहे हैं कि उनको शरीर में देह में फोड़ा पड़ रहा है पैर में या भूख लग रही है इसका कोई भान ही नहीं उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे वे चांदनी रात में कमल के पत्ते पर खड़ी है ऐसा अनुभव है रूप गोस्वामी जी लिखते श्री कृष्ण को देखने में इतना आनंद मिल रहा था कि ये सब दुख कल्याण नहीं यह तो खैर तो हला नहीं सकते हैं भगवान की प्रिय भगवत स्वरूपा है लेकिन भक्तों के भी मन में इस प्रकार की बात होती है कुछ भी दुख हो लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति हो रही है कृष्ण चित्त लगा है अब कोई भी दुख उसको अभिभूत नहीं कर पाते हैं भक्ति से छुड़ा नहीं पाते हैं या कोई व्यक्ति चाहे कि हम दुखों से लड़ करके दुखों को खत्म कर देंगे नहीं अब तक संसार में न जाने कितनी योजनाएं बनी होंगी कितना संघ बना होगा संसार के दुखों को हटाने के लिए लेकिन दुख हटे कहीं कहीं मैं पढ़ता था भारत के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक वाक्य लिखा था दीवारों पर हम मलेरिया को सदा के लिए गहरी नींद में सुला देंगे जब तो मच्छरों को सुला ही नहीं सकते हो तो मलेरिया कहां से छूट सुला दोगे जब से सृष्टि होगी मनुष्य चाहता होगा कि ये कीड़े मकोड़े न रहे क्या हुआ घटे नहीं बढ़ते जा रहे सबका अनुभव है और लोग बताते हैं कि गंगा जी के तट पर एक भी मच्छर नहीं थे कहीं भी हम लोगों का अनुभव है बनारस में एक भी मच्छर नहीं थे लेकिन अब सब जगह बढ़ गए मलेरिया को गहरी नींद में सुला देंगे मलेरिया के रोगियों को सुलाएंगे कोई दुख कम नहीं हो रहा है दुख बढ़ते जा रहे हैं परंतु इन दुखों के बीच में भी सुखी रहने की एक कला है वह है श्री कृष्ण में अपने मन को रखना श्री कृष्ण में मन रहता है जब उनके नाम को वाणी पर रखा जाता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम तो संसार का दुख हटाने से हटेंगे नहीं कम करने से कम नहीं होने वाले हैं इनसे बचने का उपाय है भगवान का भजन जिन लोगों का मन भगवान में लगा हुआ है वे संसार के किसी भी दुख से दुखी नहीं होते विचलित नहीं होते भगवान के रूप गुणादि के रस में मन को आविष्ट करने से सब समय सुख ही सुख रहता है मार्ग बभूव संदिग्धा तृणैश्छन्ना य संस्कृत नाभ्यस्य माना सुतयो द्विज ही युवा जैसे ब्राह्मण गण जब वेद का अभ्यास नहीं करते हैं आवर्तन नहीं करते हैं नहीं पढ़ते हैं तो कुछ काल के बाद उनके द्वारा याद किए हुए श्लोक सब भूल गए याद भी रहते हैं तो संदिग्ध रहते हैं तो पद याद है चौथाई पद तो और नहीं याद है कहीं अंत में याद है बीच में याद विजयी न अभ्यस्यमान श्रुत काल हताई जैसे ब्राह्मण लोग जब वेद का अभ्यास नहीं करते हैं तो पढ़े हुए वेद के अंश भी भूल जाते हैं काल में रास्ते संदिग्ध हो जाते हैं क्यों एक तो कारण यह है कि असंस्कृता रास्तों का संस्कार नहीं होता है वर्षा काल में सर्वत्र पानी भर जाता है कीचड़ हो जाता है तो लोग सब रास्तों पर नहीं चलते हैं मुख्य मुख्य रास्ता पकड़ करके चलते हैं जो अवान्तर मार्ग होते हैं उपमार्ग मार्ग होते हैं वे सब समृद्ध हैं लोग चलते नहीं है तो तो इसलिए संस्कार नहीं होता चलने से संस्कार होता है क्या होता है मनुष्य के या पशुओं के पैर लगने से घास कट जाती है जल जाती है इसको छिंडा कहते हैं जिन संस्कार नहीं होता है, नहीं चलते हैं तो एक तो एक कारण होता है और दूसरा त्रिणय ही छिन्ना घास बढ़ करके रास्ते को ढक लो इसलिए मार्ग संदिग्ध हो जाते हैं संदिग्ध हो जाते हैं पूरा पूरा बंद हो जाते हैं यह अर्थ नहीं है संदिग्ध हो जाते हैं घास इतनी बढ़ जाती है कि आदमी चलता है तो सोचता है यहाँ से ये रास्ता जाएगा कि कौन जाएगा कहीं कोई तो संदेह हो मार्गा बभुव संदिग्ध मार्ग संदिग्ध हो जाता है क्योंकि तीर्ण छन्ना और असंस्कृता है मनुष्य का चलना फिरना बंद हो जाता है पैर से संस्कार नहीं होता है घास का अभ्यास बढ़ जाता है जैसे वेदों का अभ्यास नहीं करने से रोज पाठ नहीं करने से सब इसमें दो उपमा दी जा रही है न अभ्यस से माना ये तो असंस्कृत शब्द से जुड़ा हुआ नहीं पाठ करना मतलब नहीं मार्ग पर चलना मार्ग के घास कट नहीं रहे हैं क्योंकि उसको चल ही नहीं रहे हैं और दूसरा काल हता संसार का ऐसा स्वरूप है मान लीजिए कोई कहे ठीक है मैंने पहले कुछ वेद पढ़ा है पहले गीता पढ़ा है भागवत पढ़ा है तो ऐसे भी आदमी चुपचाप बैठे तो काल जो है वो अपने आप विस्मृत कर देगा काल विस्मृत कर देता है और ऊपर से पढ़ाई भी बंद हो गई है तब क्यों नहीं बंद करेंगे इसके द्वारा अतिरेक से यह शिक्षा दी जा रही है कि सदा ही वेदों का आवर्तन करना चाहिए सत्शास्त्र को रोज पढ़ना चाहिए शास्त्र वास्तव में कृपा करके भगवान ने हम लोगों को दिया है जब हम पढ़ेंगे भी नहीं हम क्या आशा करेंगे कि हम अध्यात्म उन्नति पाएंगे प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह पढ़े और सुने कि पढ़ना और सुनना हमारे जीवन के जीवन का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है भगवान ने वेद शास्त्र दिया और उसको कहा कि पढ़ो सुनो जैसे गीता बोलने के बाद वे कहते हैं जो इस गीता का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा आराधित हूँ और जो मेरे भक्तों में इसकी व्याख्या करेगा उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई है न हो इतना तक भगवान बोलते हैं तो इसमें क्या आशय छिपा है भगवान का यह आशय है मंतव्य है कि इसे पढ़ना चाहिए प्रतिदिन और कुछ व्यक्ति यदि यह कहे कि हम पहले बहुत पढ़ चुके हैं बहुत पढ़ चुके हैं तो भूल भी जाएगा यदि अभ्यस्त न अभ्यस्त माना है कि अब अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो पहले का पढ़ा हुआ भूल जाएगा विस्मृत हो वर्षा काल में रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं घास द्वारा संदिग्ध हो जाते हैं इसको देख कर कृष्णदेव गोस्वामी याद कर रहे हैं इसी तरह से भागवत आदि भूल जाए एक कवि ने कहा है कि कुछ लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए विष्णु शास्त्र भी है राजा पर विश्वास नहीं करना चाहिए स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और शास्त्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए शास्त्र पर विश्वास नहीं करने का आशय है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि पढ़ लिया हमें याद है ठीक है जब बोलने का या कुछ काम करने का समय आएगा तो भूल जाए जैसे सार्वभौम जी कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति था अपने मित्र से बता रहा था कि भगवान ने हमको दो गुण दिया है और तो कुछ नहीं दिया लेकिन दो गुण दिया है एक एक तो ये गुण है कि हमारी स्मृति शक्ति बहुत बलवान है मैं जो बात याद कर लेता हूँ भूलती नहीं है और दूसरा वो याद भूल गया है <laughs> स्मृति शक्ति बहुत बलवान है दूसरी बात याद नहीं आ रही इस तरह से याद की हुई बातें भूल जाती हैं इसलिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए कम से कम देखिए भगवान की इच्छा मान करके पढ़ा जाए तो यह भगवान की पूजा है जैसे रंगनाथ में वो ब्राह्मण गीता पढ़ रहे थे चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं आप क्यों गीता पढ़ते हैं तो पढ़ने नहीं आता है और हाँ, फिर भी आप रोते हैं रोमांच होता है वाणी गद्दे हो जाती है तो ये ब्राह्मण कहे कि शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि गीता पढ़ो इसलिए मैं गुरु की आज्ञा मान करके पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में कुछ भी नहीं आता है कि इसमें क्या कहा गया है लेकिन धर्म क्षेत्र से लेकर के अंत तक यही स्मरण आता है कि अर्जुन के रथ पर श्याम सुंदर बैठे हैं पीताम्बर पहने हैं और ऐसे उपदेश कर रहे हैं यही जब मैं याद करता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आता है और शरीर में रोमांच होता है गला गदगद होता है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा गीता पढ़ने के लिए सबसे सुयोग्य कैंडिडेट हो आत्मचित मुझे इस बात पर ध्यान आ रहा है कि वो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं गुरु की बात मानकर पढ़ रहा हूँ इसी तरह भगवान की तो आज्ञा है डायरेक्ट सबके लिए कि इसे पढ़ो इसे सुनो गीता कहने के बाद आप सावधानी से देखिए भगवान गीता में कितना जोर देकर कह रहे हैं तो पढ़ना चाहिए भगवान के आदेश का पालन करेंगे तो ये हमारी शोभा है भगवान हम पर प्रसन्न होंगे इसको ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए कि हम पढ़ें या ना पढ़ें हम नहीं पढ़ेंगे कभी या कह देंगे कि टाइम कहाँ है पढ़ने का और कुछ लोग कह देते हैं समझ में नहीं आता है हम पढ़ेंगे क्या तो समझ में आ जाएगा तब पढ़ना चालू करेंगे कि पढ़ेंगे तब समझ में आएगा <laughs> सोचने की बात हम पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा ना अच्छा दूसरी बात यह है कि जब आप पढ़े रहेंगे तब सुनने में भी वो के समझ में आएंगी नहीं पढ़ने वालों को समझ में नहीं आती है बात जो पढ़ा है जानता है वही सुन करके भी समझ सकते हैं तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है अन्यथा वर्षाकालीन मार्ग की तरह सब संदिग्ध हो जाएगा और कुछ काल के बाद वर्षा काल तो होते होते तो रास्ता का पता ही नहीं रहेगा संदेह कहें संदिग्ध तो एक दो एक डेढ़ महीने के बाद ही हो जाता चार महीने की बरसात होती है तो एक महीने के बाद ही सभी उड़े और धीरे धीरे धीरे धीरे लुप्त मार का पता नहीं चलता इसमें है शिक्षा यह है कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए शास्त्रों का अध्ययन रोज करना चाहिए शिल प्रभुपा जी जो दो टाइम शास्त्र पढ़ने की सुनने की व्यवस्था किए हैं ये सब यही सत्य को प्रकट कर रहा है सवेरे श्रीमद भागवतम और शाम को भगवत गीता कम से कम दो बार तो भगवान के शास्त्रों को टच में आने एक के द्वारा भगवान की लीला को समझे और दूसरे के द्वारा भगवान के उपदेश को समझे न अभ्यस्त माना अनावर्त माना इति असंस्कृत साम्य अतएव काले न केनचित काले न आहता विस्मृता से भवंती अनेन अधीतानां वेदानाम् आवृत्तिं कुर्वन् अन्यथा तो प्रत्यवाय शिक्षा इसके द्वारा शिक्षा दी जा रही है कि अध्ययन किए हुए या सुने हुए शास्त्रों को बारंबार अध्ययन कर, मतलब करके ही समय बिताना चाहिए नहीं तो प्रत्यवाय हो जाएगा प्रत्यवाय का अर्थ होता है कि जितना हम जमा किए हैं उसमें छीन होता है धीरे धीरे नष्ट लोकबन्धुसुतेभेषु विद्युतश्चलसौहृदः स्थैर्यं चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणेष्विव मेघ लोक बंधु है कितना अच्छा स्वभाव दिया है भगवान ने मेघों को अपना जल रूप जीवन वर्षा कर सबको सुखी करते हैं लेकिन ऐसे मेघों के पास भी ये बिजलियां स्थिर नहीं तो लगता है कि डाइवर्स दे करके दूसरे को ग्रहण कर ली फिर उधर ग्रहण कर लिया इधर ग्रहण कर लिया विद्युत की उतना स्त्रियों से दे रहे सुखदेव गोस्वामी सभी स्त्रियों की नहीं यहाँ पर जो शब्द स्पेशली दे रहे हैं कामिन्य कामिन्य हम कामिनिया जिनके चित्त में केवल काम वासना है पति के प्रति प्रेम नहीं है अनुराग नहीं है वे स्त्रियां पुरुष है कितना भी गुणवान हो लेकिन नए नए पुरुष की खोज में रहती है बंधु से मेघ ऐसे विदित चल सब अनंत अद्भुत गुण से विभूषित मेघों में भी विद्युतों विद्युत कैसे हैं तो चल सहृदय जिनका सौहार्द जिनका प्रेम चल है चंचल अरे जब चमकी है एक बादल के साथ तो उसी के साथ चमकती रह जाए बीच बीच में चमके लेकिन केवल उसी के साथ तब माना जाएगा कि हाँ ठीक स्त्री की शोभा वास्तव में पतिव्रता होने में बारंबार हमारे वैदिक शास्त्र इस बात को बताते हैं जितना ही पति में अनुरक्त होती है स्त्री पत्नी उतना ही वो जशस्विनी है सराहनीय यहाँ तक भगवान श्रीमद भागवतम में कहते हैं कि पति यदि विकलांग हो रोगी हो गरीब हो दुशील हो फिर भी पति की सेवा करनी चाहिए सुनिए न विवेकी न हर स्थिर भक्ति विधेय न विद्युत चला हाँ। विवेकी पुरुष को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण में अचल भक्ति करे बिजली की तरह चंचल भक्ति नहीं जो कृष्ण को ग्रहण किया तो ग्रहण किया भगवान को अपना इष्ट देव माना उनके चरणों में समर्पण किया तो किया बस हो और ऐसा नहीं कि कोई विपत्ति आने पर या कोई प्रलोभन आने पर और कृष्ण को भी छोड़ दे इधर उधर चले स्थिर है अचल प्रीति कृष्ण से करनी चाहिए तो व्यतिरेक भाव से समझा रहे हैं व्यतिरेक का अर्थ होता है उल्टे ढंग से वैष्णवों के लिए यह शिक्षा है मतलब जो भाव की मन की चंचलता है कृष्ण में वो त्याग देना चाहिए ये शिक्षा पतिव्रता स्त्री की तरह कृष्ण के साथ हुए तो हुए देखते हैं कोई पतिव्रता स्त्री है पति के साथ होती है पति के सुख में दुख में जीवन बिता देती है जीवन ही नहीं बिता देती है पहले ऐसी स्त्री होती थी पति के साथ सहमरण स्वीकार करती साथ में मरते थे चलना इसको प्रेम कहा जाता कवि ने कहा है कि जो पति के जीवित रहने पर जीवित रहती है पति के सुख में सुखी रहती है दुख में दुखी हो जाती है पति के मरने के बाद पति के साथ मर जाती है क्या ऐसी नारी के साथ किसी की तुलना कहीं की जा सकती है इतना प्रेम है धधकती हुई सीता की लपट से दुख का अनुभव नहीं होने देता आलिंगन करके सीता तो इस तरह से हरि से प्रेम करना चाहिए किसी से प्रेम करना चाहिए विद्युत की तरह चंचल प्रेम नहीं भगवान श्री कृष्ण में गुण देखा जाए तो वो तो वास्तविक लोक बंधु है सुहृदम नहीं सारे सदगुण श्री कृष्ण में है सब कुछ और किसी जीव को कृष्ण जो सुख देंगे वो दूसरा क्या दे सकता है कोई देवी देवता या कोई पंथ विपथ क्या सुख देगा किसी को जो कृष्ण सुख दे सकती है वो तो वास्तविक लोक बंधु हैं जगन्नाथ हैं उन्हीं के चरणों में असल स्नेह करना चाहिए सुखदेव गोस्वामी का यह संदेश है और भाव की जो कमियां होती हैं उससे बचना चाहिए इस श्लोक द्वारा ये सिखाया जा रहा है धनुर्वियतिमाहेन्द्रम् निर्गुणम् गुणिन्य भात व्यक्ते गुण व्यति करे अगुणवान पुरुषो यथा बारंबार समाज में चर्चा होती है सगुण निर्गुण सगुण निर्गुण भगवान निर्गुण है कि सगुण है भगवान निर्गुण है कि सगुण है तो वास्तव में भगवान निर्गुण भी है सगुण भी है इस श्लोक में बताया जा रहा है सगुण का अर्थ है गुण के साथ माया के साथ माया के द्वारा वो इस जगत की रचना करते हैं तो उस समय वो गुणों के साथ रहते हैं तो इसलिए उनको सगुण कहते हैं पर वास्तव में भगवान है निर्गुण प्रकृति के गुणों का तनिक भी टच रही है भगवान में भगवान की लीलाओं परंतु प्रकृति के साथ कार्य करते हैं सबसे पहले अपने को कारणवक शाही के रूप में प्रस्तुत करते हैं प्रकृति पर दृष्टिकार करते हैं फिर एक ब्रह्मांड के भीतर अपने को विस्तारित करके और पुनः सृष्टि करते हैं गुणों के द्वारा प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि करते हैं पालन करते हैं प्रलय करते हैं परंतु वास्तव में है भगवान अगुण गुणहीन है अर्थात पूर्ण सिद्ध घन है चिद वस्तु तो इसको ऐसे समझा रहे हैं गुणिनी दियति गुणमय आकाश में दियत का अर्थ है आकाश गुणमय आकाश में निर्गुण धनुष उगा हुआ है महेंद्रम धनु महेंद्र का इंद्र धनुष महा इंद्र मतलब इंद्र महेंद्रम धनु मतलब भगवान इंद्र का धनुष जिसे इंद्र धनुष कहते हैं वो आकाश में आता है रहता है दिखाई पड़ता है लेकिन उसमें गुण नहीं होता है गुण का अर्थ है ज्या जो रस्सी बंधी होती है दोनों छोर से आपने देखा हो इंद्र धनुष में वो रस्सी नहीं होती वो निर्गुण रहता है है कहाँ गुणनी दियती गुणमय आकाश में यहाँ गुण का अर्थ है शब्द शब्द एक गुण है आकाश का गुण है शब्द वायु का गुण है स्पर्श अग्नि का गुण है रूप जल का गुण है स्वाद और पृथ्वी का गुण है गंध आकाश स्वयं गुणमय है लेकिन गुणमय आकाश में निर्गुण धन सुधा है ठीक इसी तरह से व्यक्ति प्रपंच जो होता है जो भगवान सृष्टि करते हैं तो यहाँ इस जगत में अपने को कारणोदक शाही के रूप में गर्भोदक शाही के रूप में या लीला अवतार के रूप में विविध अवतार ग्रहण करते हैं रहते हैं अगुण ही लेकिन इस गुण गुण में जगत में इस गुणमय जगत में भगवान अगुण ही रहते हैं जैसे गुणमय आकाश में महेंद्र का धनुष निर्गुण रहते हैं है गुणमय आकाश में गुणनी वियति गुणनी व्यति सप्तमी विभक्ति में है गुणमय आकाश में निर्गुण महेंद्रम धनु अभात बहुत सुंदर लगता है अभात का अर्थ बभव बहुत सुंदर लगता है आप सबने देखा होगा इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं इंद्रधनुष की उपमा भगवान से दे रहे हैं और इस प्राकृतिक जगत की उपमा आकाश से क्योंकि गुणमय है भगवान ऐसे प्रकृति से पार रहे लेकिन उस समय उनकी शोभा नहीं शोभा का ये तात्पर्य है यहाँ कि यहाँ लोगों को पता नहीं लगता है भगवान कैसे हैं और इधर से निराकार का नारा बोला जाता है पता ही नहीं है तो क्या करेंगे तो भगवान की शोभा नहीं होती है लेकिन जब आते हैं अवतार लेकर जीवों का पालन करते हैं पोषण करते हैं सृष्टि करते हैं विविध लीला करते हैं तो भगवान इन जीवों के साथ होकर अपनी माया शक्ति के साथ होकर के बहुत सुंदर लगते रहते हैं प्राकृतिक जगत में लेकिन प्राकृतिक वस्तुओं से प्रभावित नहीं होते पर भगवान का यहाँ अवतार लेकर के आना और प्रकृति के साथ होना और जीवों के साथ होना बहुत अच्छा लगता कितना सुंदर सुंदर बात कितनी सुंदर बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भक्तों को इस पर मनन करना चाहिए अब इंद्र भानुष हो गए तो देख देख करके मिलाना चाहिए सुखदेव गोस्वामी की कितनी गहरी दृष्टि है इतने जटिल प्रश्न का एक श्लोक में इतना सफाई से उन्होंने उत्तर दे दिया है भगवान सगुण है निर्गुण है जरूरत पड़ती है तो गुणों के साथ हो जाते हैं क्योंकि वे जब तक गुणों को टच नहीं करेंगे इसमें चेतना नहीं आएगी कोई सृष्टि हो नहीं सकती इसलिए सगुण है अर्थात माया शक्ति के साथ होते हैं भगवान अपनी शक्ति को स्वीकार करके सृष्टि करते हैं यही तो सौंदर्य आप देखिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत पढ़ा लिखा हो स्वस्थ हो धनी हो सब हो लेकिन एक ऑफिस में अलग बंद रहे और सामान्य लोगों से उसकी भेंट न हो तो शोभा नहीं देखेगी वही व्यक्ति विवाह करे और कुछ बनावे अपने बच्चों के साथ हो अपनी पत्नी के साथ हो और समाज के साथ हो तो सुंदर लगेंगे नहीं तो ऐसे भूत जैसा अकेले रहने तो भगवान इस विश्वस्थित जीवों के साथ जब होते हैं माया शक्ति के साथ होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं क्या भगवान वास्तव में गुणों से अभिभूत होते हैं नहीं वहां इंद्र धनुष में जो गुण शब्द है केवल रस्सी के लिए कहा गया है कि उसमें रस्सी नहीं रहती है जया नहीं रहता है निर्गुण रहता है गुण मैंने रस्सी बिना गुण के अर्थात निर्गुण इंद्र धनुष गुणमय आकाश में रह बहुत अच्छा लगता है भगवान अपने धाम में जो लीला करते हैं करते रहे जब यहाँ पता ही नहीं चलेगा तो उनकी शोभा क्या है जब यहाँ आकर के लीला करते हैं तब अच्छा लगता है इसीलिए भक्त लोग देवता लोग उनको यहाँ बारम्बार लाया करते हैं बुलाया करते हैं भगवान अवतार लेते हैं और वो अवतार लेकर के सब लीलाएं किए हैं तभी यहाँ पता है नहीं तो गोलोक में क्या करते हैं किसी को कुछ पता नहीं कौन वहां जाकर के लिखा वहां कोई लीला खास नहीं लिखी गई यही लिखा गया सब चिन्मय है गोपियां उनकी स्वरूप शक्ति हैं लेकिन भगवान वहाँ कहाँ पर्वत उठाए होंगे और वहाँ कहाँ अग्नि पान किए सब लीलाएं हम्म, कुछ पता ही नहीं ऐसे नित्य लीलाएं हैं लेकिन वहां से कौन लिखे जगत में आते हैं गुण में जगत में और लीला करते हैं तब बहुत अच्छा लगता है तो भगवान वास्तव में निर्गुण है परंतु प्रकृति को स्वीकार जब करते हैं सृष्टि आदि करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जैसे परिवार में देखिए परिवार में दस आदमी हैं घर का एक मालिक भी है रात को सब सोए रहे तो उसमें उनकी शोभा नहीं है सवेरे जगते हैं भोजन बनता है कुछ ऑफिस जाते हैं यह वह जो हलचल होती है कब अच्छा लगता है वह भी व्यक्ति अपनी पोशाक पहन करके जाता है जहाँ जाना है हाँ <laughs> हाँ वास्तव में भगवान जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये तो भगवान की बात कही गई आप जीव की बात कर रहे हैं न रराजोदुपच्छन्न राजित घन ही अहम मत्या भाषितया स्वभाषा पुरुषो यथा उदुपच्छन्न मेघन घन छन्न उदुप न रराज रात्रि के समय चंद्रमा उगते हैं लेकिन वर्षा काल में इतने घने घने बादल छाए रहते हैं चंद्रमा सुशोभित नहीं होता अपना स्वरूप प्रकाश नहीं कर पाता है जितना तेज चंद्रमा में रहता है दिखाई नहीं पड़ता किसके द्वारा ढक लिया जाता है घनई घनों के द्वारा बादलों के द्वारा कथम भूत ही घनई बादल कैसे पता चलते हैं कहते हैं स्वज्योत्सना राजित है चंद्रमा की ज्योत्सना से प्रकाश से वे विभाजित होते हैं आकाश में अच्छा लगता है चंद्रमा न उगे तो बादल भी नहीं दिखाई देगा चंद्रमा उगता है तो सबसे पहले संध्या राग से बादल लाल लाल दिखाई देना रात्रि में तो वहीं से प्रारंभ हो जाता है कि चंद्रमा उगा है और चंद्रमा के कारण बादल लाल लाल दिखाई दे रहे हैं धीरे धीरे धीरे धीरे सफेद दिखाई देने लगते सो ज्योत्सना राजित है अपनी ही किरणों से अपनी ही ज्योत्सना से बादल राजित होते हैं लेकिन चंद्रमा जिन बादलों की शोभा को बढ़ा रहा है वही बादल चंद्रमा के स्वरूप को ढक रहे हैं इसी तरह से अहंकार के द्वारा जीव ढका हुआ है जबकि अहंकार को या देह को प्रकाशित आत्मा कर रहा है यदि आत्मा न रहे अहंकार में सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में तो यह शरीर कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं उसी के प्रकाश से प्रकाशित है उसके चैतन्य से इसमें चेतना है लेकिन फिर भी यही उस जीव को भीतर है बहुत सुंदर उदाहरण है यह दो प्रकार के आवरण में जीव बंद है एक तो स्थूल जो हम लोगों का शरीर है और दूसरा अहम मती है अहम मती का मैं यह हूं ऐसा हूं जो अहंकार में जीव सोच रहा है मैं ऐसा हूं ये हूं वो नहीं है लेकिन इस प्रकार की अहम मति जीव की चेतना के कारण ही हो रही है अहंकार प्रकाशित होता है सबसे पहले अहंकार प्रकाशित होता है अहंकार के प्रकाशन के बाद मतलब अहंकार चेतनीभूत होता है और उसके बाद तभी जड़ शरीर और स्थूल देह चेतनीभूत होता है ऐसा देखते हैं कि यह शरीर रात्रि में निद्रा के समय निश्चेष्ट रहता है लेकिन फिर भी सूक्ष्म शरीर काम करता रहता है वही से बलवान है तो अहम मती इसको संस्कृत से इसका हम पढ़ रहे हैं श्रीका सुधर स्वामी जी स्वभाष भाषितया अहम मत्या इति एवं प्रकाशित न अहंकारेण छन्नो जीवो जति अपने ही ज्योत्सना से चेतना से प्रकाशित अहंकार के द्वारा जीव ढक जाता है जो वो है वास्तव में वो स्वरूप प्रकाश नहीं होता है अनावरण स्वरूप नहीं समझ में आता है जीव को कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं मैं चिन्ह में देह को मैं मानता हूं और देह में चेतना किसकी है आत्मा की है आत्मा इस देह में है या मन में है तो इसमें चेतना आ रही है ये सुंदर लगता है यदि शरीर से आत्मा निकल जाता है तो वास्तव में शरीर देखने लायक नहीं रहने शरीर में आत्मा न रहे तो शरीर किसी काम का नहीं है और उसी की चेतना से प्रकाशित हो रहा है और उसी के स्वरूप को ढक रहा है अथवा इसका एक अर्थ हुआ अहम विद्वान दाता वेता सुर इति स्वप्रतीक आरोपितया अहम अथवा कभी कभी जीव मानता है कि मैं दाता हूँ मैं सुर हूँ मैं विद्वान हूँ मैं वेता हूँ जानकार हूँ अपनी ही मति से व्यक्ति कोई सोच ऐसा हो तो शोभा नहीं देता है यह भावना अहंकार से वो उसकी शोभा नष्ट हो जाती है लेकिन मूल अर्थ ऊपर वाला ही है बादलों से मेघों से छन्न होकर के चंद्रमा शोभा नहीं देता है न राजो का अर्थ विलक्षण विलक्षणतया घनेभ्यो तया न राज यथा पुरुष प्रत्यगात्मा स्वभाषा स्वपृथक सिद्ध धर्मभूत ज्ञाने न भाषितया समुन्नतया अहमत्या देहाति भामितया देहात पृथक न प्रकाश जीव भ्रम में है कि मैं ये देह हूं और इस कारण से देह से भिन्न जो उसका विलक्षण स्वरूप है वो प्रकाशित नहीं हो पाता राज राजित नहीं होता इस कारण के स्वरूप तो अभिव्यक्ति न प्राप्त अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता पुरुष प्रत्यगात्मा स्वभाषा स्वपृथक सिद्ध धर्मभूत ज्ञाने न भाषितया समुन्नतया अहमत्या देहात्म भ्रांत्या देहात पृथक न प्रकाश जीव भ्रम में है कि मैं ये देह हूं और इस कारण से देह से भिन्न जो उसका विलक्षण स्वरूप है वो प्रकाशित नहीं हो पाता न राज राजिक नहीं होता इस कारण से स्वरूप अभिव्यक्ति न प्राप्त अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता कितना जीव का विलक्षण स्वरूप है जब जड़ शरीर को वह प्रकाशित कर रहा है चेतना दे रहा है तो अपने आप में कितना चिन्हय है ऐसा भगवान के समान चिन्मय जीव और अपने को जड़ देह मानता है देह को ही प्रकाशित कर रहा है यह बात चंद्रमा और मेघ से साफ साफ समझ में आ जाती है चंद्रमा का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ रहा है और चंद्रमा के कारण बादल अच्छा लग रहा है शुभ्र लगता है चाहे लाल लगे जैसा भी तो इसमें शिक्षा है क्या शिक्षा है है शिक्षा है है शिक्षा यह है कि अहंकार से इस देह से पृथक अपने को करके देखना चाहिए हम ये सब कुछ नहीं जब हम देह नहीं है अहंकार नहीं है तो हम क्या किसी परिवार के हैं जब देह ही नहीं है तो परिवार और गांव समाज क्या चीज अपना स्वरूप प्रकाशित नहीं हो रहा है तो अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए इनका प्रतिवाद करना चाहिए इसको हटाना चाहिए जैसे बादलों में ढका हुआ चंद्रमा अपने आप स्वरूप स्फूर्ति प्राप्त नहीं करता है कब प्राप्त करता है जब शरद काल आता है शरद काल आएगा बादलों को हटा देगा आकाश साफ हो जाएगा चंद्रमा के स्वरूप अभिव्यक्ति होने लगेगा चमचम चमकता हुआ पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत सुंदर भगवत प्रसादानुगृहित ज्ञान लक्षण प्रकाशन अभिव्यक्त स्वरूप कैसे ये जीव का आवरण हटेगा कैसे अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकाशित होगा जब भगवत प्रसाद देना जब भगवान की कृपा होगी जैसे चंद्रमा अपने प्रयास से वो अलग चमक नहीं सकता है जब तक शरद काल नहीं आता है तो शरद काल आने पर अपने आप चमकने लगता है उसी तरह जब भगवान की कृपा होती है अर्थात जीव जब भजन करता है भजन करता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तब भगवान की कृपा से यह ज्ञान निरस्त होता है तेषा अनुकम पार्थम अहम अज्ञान जम तम नाश्याम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भाष्य भगवान अज्ञान को नष्ट करते हैं लेकिन हमसे क्या अपेक्षा करते हैं सतत युक्ता हम सतत युक्त रहे कीर्तन करें श्रवण करें अज्ञान दूर करने का काम भगवान का है सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कहुना श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर तो स्वरूप प्राप्त करने के लिए श्रवण ही आदि है श्रवण आदि शुद्ध चित्त करेंगे श्रवण जिनमें पहला साधन है ऐसे साधनों को करने से शुद्ध चित्त और करय उदय अपने तो चंद्रमा को कहीं से लाना नहीं पड़ता है बादल हटाइए चंद्रमा अपना प्रकाश देने लगता है क्योंकि उसका प्रकाश नित्य सिद्ध है बाहर से नहीं लाना है पर बादल को अज्ञान को तो हटाना पड़ेगा ना अज्ञान हटाने के लिए और ज्ञान देने के लिए ही सब आयोजन किए जाते हैं इसलिए सुखदेव गोस्वामी की यह अमर वाणी जुग जुग तक भक्तों को उत्साहित करती रहे शुद्ध ज्ञान देती रहे इस भावना का ज्ञान न रराजोटपच्छन्न सजत्स्ना राजितैर्घनै अहं मत्या भाषितया स्वभाषा पुरुषो यथा गृहस्थों के लिए स्पेशल बात कह रहे हैं मेघागमोत्सवा हृष्टा प्रत्यनंदन शिखंडिन गृहेषु तप्ता निर्वीणा जनाग जनागमे वर्षा काल में जब मेघ छाते हैं और गरजते हैं तो मयूर बहुत हर्षित होते हैं पंख फैला करके नाचने लगते हैं कुकने लगते हैं बादल का आकाश में आना और मयूरों का नाचना पंख फैला करके उसको प्रत्यनंदन का अभिनंदन शिखंडिन शिखंड कहते हैं मुकुट को जिस पर शिखंड रहता है उसको शिखंडी का मयूर तो शिखंडी गण मयूर गण मेघ आगम उत्सव मेघ का आगम ही उनका आनंद होता है मेघ का आना देखते हैं आकाश में हर्षित हो जाता है बादल के आने से नाचने लगते हैं हर्षित होते हैं हृष्टा अतएव हृष्टा मेघ का आगम ही उनके चित्त में उल्लास उत्पन्न करने वाला होता है और इसलिए हर्षित हो जाते हैं वैसे ही जैसे गृहेश तत्ता निर्णय जथा शिव जनागम आगम का अर्थ जो लोग स्त्री के साथ रहते हैं बच्चों के साथ रहते हैं घर गृहस्थी में जो लोग हैं कहने का आशय ये है कभी कभी यदि भाग्यशाली हैं तो तप्त हो जाते हैं तप्त रहते हैं तप्त का यह अर्थ है अहो महाक्लेश गृह ये घर बहुत दुखद दुखी रहते हैं क्यों दुखी रह तप्त रहते हैं कुटुंब भरणादिना सज्जन दर्शना भावाग्निना है भक्तों से भेंट नहीं होती है इस आग में जलते हैं तो सुकृतशाली गृहस्थों की बात कही जाती है वो तो अच्छे गृहस्थ हैं उन्हें जब वैष्णवों का संग नहीं मिलता है तो इस आग से तप्त रहते वैष्णव के अदर्शन की ज्वाला से जलते रहते तप और दूसरा ताप है कुटुम्ब भरण आदि कुटुम्ब भरण आदि कैसे परिवार चलेगा कमाने में फिक्र में तप्त रहते हैं और इस कारण से निर्वीण होते हैं निर्वीण का अर्थ है संसार में हे बुद्धि रहती है अच्छा नहीं हे भगवान कोई ऐसा अवसर मिलता है कि भाग जाता है इस घर से और नहीं भाग सकता हम तो कम से कम भगवान के भक्त तो आते उनके साथ कुछ देर बैठ करके कृष्ण का कीर्तन होता कथा होती ये चिंता में रहते उनको निर्वीण कहते जैसे निर्वीण पुरुष और घर गृहस्थी में तप्त पुरुष और च्यूत के जनों के आने पर हर्षित होते हैं कृष्ण के जन्म जब आते हैं घर पर तो बहुत प्रसन्न होते हैं वो आज भगवान का कीर्तन मिलेगा कथा होगी अपने बंधुओं का संग मिलेगा तो परिवार आदि का पालन ये पर लोगों का पराये लोगों का पालन है और करना पड़ता है अपने आदमी वो नहीं है अपने आदमी वैष्णव है भगवान कृष्ण के जो जन है अच्युत के जो जन है वही स्वजन है और बाकी दूसरे का पालन करना पड़ रहा है तो जो इस बात को जान जाते हैं वे चिंता में रहते हैं तो उन्हें जैसे अकस्मात वैष्णवों का आगमन घर पर देखकर आनंद होता है और ही मयूर की तरह नाचने लगते हैं तो इस तरह स्वागत करते हैं गृहस्थ ऐसे होते हैं न घर छूटता है न दुख घटता है घर में दुख लगा हुआ छूटता भी नहीं है यह भी हो जाए घर न छूटे दुख कम हो जाए दुख भी कम नहीं होता है तो ऐसे रोगी की तरह होते हैं कि वो न रोगी अस्पताल जा सकता है न रोग कम हो सकता है कृपा करके कुछ डॉक्टर ही घर पर जाते हैं क्या करें सो कहा भी चैतन्य चौतार में कहा भी यदि साधु वैद्य पाए तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाए भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए तो साधु जन कभी कभी गृहस्थों के घर पर जाते हैं जानते हैं कि बेचारे चाहते हैं भगवान का भजन भगवान का श्रवण कीर्तन लेकिन घर छूटता नहीं है अब लोग देख ही रहे हैं कितना बंधन है गृहस्थों का तो गृहस्थी का तो बंधन है ही अब तो आश्रम आदि का भी बहुत भारी बंधन वो अभी एक घर ही जैसा है वास्तव बहुत बड़ा बंधन तो ऐसे बंधन में पड़े हुए जन जब देखते हैं कि अपने घर पर वैष्णव जन आते हैं तो वे खुश हो जाते हैं चलो बहुत अच्छा बहुत प्रसन्न रहते हैं इसको भी मानस में भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण देख मोर गण नाचत बारिद पेख गृही विरतिरत हर्ष जस विष्णु भगत कह देख देखो लक्ष्मण मयूर नाच रहे हैं भगवान वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं देखो ये मयूर नाच रहे हैं बादल को देख करके लक्ष्मण देख हूँ मोर गण नाचत बारिद पेख मोरों का समुदाय नाच रहा है ठीक वैसे जैसे घर में घर के दुखों से उबा हुआ भगवान के भजन के लिए व्याकुल व्यक्ति विष्णु भक्त को देख करके हर्षित होता है विष्णु भगवत बहुत ही सुंदर बात अपने घर पर वैष्णव आवे तो यह घर का भाग्य होता है जिन घरों में वैष्णव जाने लगे तो विष्णु जाएंगे वहां निश्चित क्योंकि मधुभक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठान जिस घर में कीर्तन होता है कथा होती है तो भगवान वहां रहते हैं तो मयूर बनना चाहिए और वैष्णव रूपी बादल को देख करके हर्षित साधुओं के आने से प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि वही विष्णु के जन हैं विष्णु के संदेश को लेकर आते हैं विष्णु की याद दिलाते हैं सुधा जी ने पद लिखा है जा दिन संत पाहुने आवत जिस दिन संत पाहुन घर में आते हैं तो वही दिन जीवन का असली दिन होता है स्वयं भी स्मरण करते हैं भगवान का और स्मरण कराते हैं यह बहुत ही सुंदर उपाध्याय शिक्षा है जिस मयूर की प्रसन्नता होती है वैसे प्रसन्न रहना चाहिए और गृहस्थों को चाहिए कि वे तप्त और निर्वीण बने कुछ अनुभव करना चाहिए कि घर में दुख है घर में सुख का अनुभव करना ठीक नहीं है <laughs> दुख है वास्तव में व्यक्ति दुख का अनुभव करेगा और निर्मल होगा तब साधुओं के समागम का आनंद ले सकते हैं पीवापह पादपापद्भे आसन्नात्मूर्तय प्राक्षामस्तपसा श्रंता जथा कामानुसेवया पादपा वृक्षगण वृक्षगण अपने पैरों से अर्थात अपने मूल से अपह पीतवा जल पी पी कर अनेक प्रकार के हो जाते हैं समृद्ध हो जाते हैं जैसे तपस्या करके पहले छीण होते हैं जोगी लोग भक्त लोग लेकिन बाद में बाद में सुखद वस्तुओं को पा करके वे ठीक हो जाते हैं तपस्या से पहले तो छांत रहते हैं छाम छमक करते दुबला नहीं पतला क्षमा का अर्थ पतला और स्नान का अर्थ दुर्बल दुबला भजन करते करते तपस्या करते करते भक्त पहले क्षीण हो जाते हैं और दुर्बल हो जाते हैं लेकिन बाद में भगवत प्रसाद आदि मिलता है और ठीक है पादपा पद भी अपह पीतवा जल पी पी करके और बहुत विविध प्रकार सुंदर लगने लगे पत्र पुष्प फल आदि धारण कर लिए बहुत अच्छा लगने लगते पैर से बेचारे पिए मुंह से नहीं खाए संग्रह नहीं किए इसी तरह से भक्त को चाहिए कि ठीक है और जीवन निर्वाह करे भगवान का प्रसाद खूब अच्छा से खाए लेकिन और इंद्रिय तृप्ति के सामान का संग्रह न कर और नाना प्रकार का हो जाएगा वो अनेक प्रकार का भक्त हो जाएगा अनेक प्रकार के होने का आशय यह है कि पहले जीवन में व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि मैं अकेला हूं लेकिन आप देखते हैं जब व्यक्ति विवाह करता है तो एक से दो होता है दो के बाद कम से कम हम दो हमारे दो तो चार हुए कम से कम ऐसे तो और ज्यादा करना चाहिए <laughs> ज्यादा बच्चा होना चाहिए यही गृहस्थी की शोभा है तो बहुत हो गए और बहुत प्रकार के पोशाक बहुत प्रकार के और भी कार मोटरसाइकिल और और क्या तो एक आदमी बहुत हो जाता है बहुत होकर एक ही आदमी फैला हुआ है ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कहीं आदमी बहुत हुआ है पत्नी के रूप में बच्चों के रूप में और सब और उसके बाद स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचाते पूरा परिवार <laughs> बहुत हो गए तो इसी तरह से वैष्णव बहुत हो जाते हैं पहले तो वे एक रहते हैं लेकिन बस दूसरा हुए क्या कृष्ण कृष्ण के साथ दो होते हैं कृष्ण के संबंध से अवरूप गोस्वामी जी भी अपने हो गए सुखदेव गोस्वामी अपने हुए ब्रह्मा जी या और भी जितने आचार्य हैं सब अपने परिवार के हुए वैष्णव समाज बहुत हो जाते यह अर्थ किया गया है अकेला नहीं होता है बहुत समाज हो जाते हैं ये उपादेश शिक्षा है ये उपादेश शिक्षा यह है कि तप करना चाहिए और भोग भोगना हो तो उस पैर से थोड़ा सा पैर से भोगने का एक थी और भी साधु के हो सके पैर पर जो पैसा चढ़ाया जाए बस उतना ही से संतोष करें बाकी हाथ में पाकिट में नहीं उतना से संतोष करें पैर से पी ले लक्ष्मी जी वृक्ष की तरह संतोषी होना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए वृक्ष कोई कामना से तप नहीं कर रहे थे तो लेकिन गर्मी के गर्मी के दिन में घाम सहते हैं बयार सहते हैं पानी का अभाव रहता है वर्षा काल में पीने को मिलता है वह पानी पी पी करके अनेक प्रकार नाना आत्मूर्त भवंती नाना प्रकार की उनकी मूर्तियां हो जाती है रूप हो जाता है फल का कुछ अलग दृश्य होता है पत्ता का अलग पुष्प का अलग इस तरह से अनेक हो जाते तो इसी तरह से तपस्या करनी चाहिए भगवान का भजन करना चाहिए बाद में तो हम बहुत सुंदर समाज में जाने वाले हैं भगवान कृष्ण के साथ होने वाले हैं कहने का आशय यह है कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कष्ट सहना चाहिए तप करना चाहिए और पुनः गृहस्थों के लिए शिक्षा होता है अथवा आश्रमस्थों के लिए शिक्षा फिर आ रही सरह स्वशांत रोध शून्य सुरंगा पिशारस गृह स्वशांत कृत्यु ग्राम्या युव दुराशया ग्राम्या प्राकृत जन जो समाज में परिवार में ही सुख मानते हैं उनको ग्राम में कहो जैसे ग्राम में जन अपने घर में ही पड़े रहते हैं और घर में कृत्य का की कोई शांति नहीं है यह करना है वह करना है वह करना अशांत से गृहेश कृत्य इतना बाकी रहता है कभी शांत नहीं होता है आयुष होता है यह करने लायक है यह करने लायक है तो, तो फिर करने लायक अनंत काम है घर गृहस्थ में कभी काम धंधा शांत नहीं होता है और उसी घर में पड़े रहते हैं क्यों दुराशय घर गृहस्थी में ही हमारा परम पुरुषार्थ है यह जिनकी भावना है उनको दूषित आशय वाला गंदा आशय वो सोचते हैं कि हम गृह से अपने परिवार से ही बस परम पुरुषार्थ परम सुख प्राप्त कर ले उनको दुराशय और समाज में रहना ही अच्छा लगता है क्योंकि ग्राम्य दुराशा अथवा ग्राम्य का अर्थ है स्त्री के साथ रहने में ही जो बहुत सुख मानते स्त्री के साथ थोड़ा सा सुख उन्हें मिल जाए बस इसी को जीवन का परम पुरुषार्थ मान ग्राम दुराशा घर में ही पड़े रहते हैं तो जैसे इस जैसे गृहस्थ लोग घर में पड़े रहते वैसे ही सारस पक्षी के जोड़ा साथ साथ साथ रहते हैं तो सरहसु अशांत रोध ऐसे सरोवरों के तट पर ही पड़े रहते हैं सरोवरों में ही पड़े रहते हैं जिनके तट अशांत रहते हैं जोर की हवा चलती है तो तरंग उठती है और तरंग उठती है तो सरोवर का पानी क्या करता है कि तट पर कंटक डालता रहता है भीतर भी जो कंटक है उसको लाकर तट पर डालते हैं तो कांटे रहते हैं गंदगी रहती है साथ रहती है साथ भोजपुरी शब्द है जो गंदा कचरा जो रहता है वो तट पर ला करके जमा कर उसको साथ कर तो साथ कंटक और पानी का हिलोरा ये सब रहता है कीचड़ लेकिन सारस पक्षी वहीं पर टिका रहता है तो जलचर जीवों को खाने के अशांत रोधस जिसका तट अशांत है ऐसे सरस सरोवरों में सारसा न्यस हे अंग हे महाराज परीक्षित ये आश्चर्य में चाहे खेद में कह रहे आश्चर्य है कि ये लोग क्यों गृह में ही पड़े हुए क्या देख रहे हैं यही बुद्धि अनेक प्रसाद जैसे सारस सब दुख सहते हैं पानी का हिलोरा आ रहा है कंटक है कीचड़ है साथ पड़ी हुई है फिर भी वही पड़े रहते इसी तरह घर गृहस्थी में रहने वाले लोग सब दुख मिलता रहता है सारा दुख अपने घर में मिलता है पर वहीं पड़े रहते आश्चर्य या खेल दुख क्या कहा <laughs> कहीं भी आदमी जाए लेकिन अपने घर जितना जोर से भागता है उतना कहीं नहीं जाता और घर में कोई सुख नहीं है वहां जाकर के जलना पड़ता है दुख है लेकिन फिर भी वही न्यसु नीह न्यस वही बसे रहते और ऐसे घर में कि जहां पर करने लायक कामों की इति श्री नहीं है ये करना वो करना ये करना ये करना तुरंत ऑफिस जाना ऐसा करना वैसा करना इधर करना उधर वो करना तो जहां अशांति है जहां केवल दुख है वही क्यों पड़े हुए हैं क्योंकि दुराशया ग्राम में ज्ञान ही नहीं है ज्ञान समझ में यह है कि हमारा घर हमारी घर गृहस्थी ही हमको सबसे बड़ा सुख देगी तो यहाँ पर एक है शिक्षा है कि सारस जैसा घर में नहीं पड़े रहना चाहिए कुछ निकल निकल करके हरिद्वार आदि भी घूमना चाहिए और हंसों के साथ में रहना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम इसमें शिक्षा दी जा रही है उसमें सरोवर के लिए कहा गया अशांत रोधसु और गृह के लिए कहा गया है अशांत कृत्यसु उसका तट अशांत है दुखद है और घर तो कृत्य के कारण बहुत दुखद है सवेरे उठिए तो ये करना है ये करना है ये करना है टाइम नहीं है ये करना है बच्चों को स्कूल भेजना है बच्चों की परीक्षा चल रही है बच्चों को ये करना है उसके बाद ये जाना वो दौड़ना वो धुकना दिन भर में आदमी करने लायक सब काम कर नहीं पाता अब कल के लिए करे और कल दिन भर करते करते करते करते और परसों करे सालों भर करते करते कृत्य तो शेष नहीं कोई शेष नहीं है दुख है अशांति है फिर भी आदमी पड़ा रहा कितना सत्य वचन बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी सबके अनुभव का विषय ईमानदारी से कोई व्यक्ति बोले यदि परमात्मा के पास हाथ रखकर छाती पर तो वो जरूर कहेगा कि घर में सबसे ज्यादा दुख है फिर भी अब क्या करे घर नहीं रहना इसलिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि वैष्णवों की संगति करें चाहे घर में चाहे घर छोड़ करके उसे सुख ही सुख मिलेगा एक अद्भुत परवस्था है मनुष्य की कि घर छूटेगा नहीं और घर में दुख भोगना पड़ रहा है क्या करें सुखदेव गोस्वामी कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहे हैं इसीलिए यहाँ अंग शब्द का प्रयोग किया गया हे प्रिय परीक्षित क्या कहें दुख व्यक्त कर रहे हैं अथवा आश्चर्य कर रहे हैं श्रीपद जीव गोस्वामी जी लिखे हैं आश्चर्य आश्चर्य खेदे नवा अंग इति संबोधन आश्चर्य से जब इतना दुख हो रहा है फिर भी आदमी घर में पड़ा हुआ है ये आश्चर्य और दुख भोग रहा है बेचारा इसमें दुख है खेद खेद ये बोल रहे हैं क्या कहा <laughs> सुख के सारे साधन मौजूद हैं भगवान का नाम है भागवत है वैष्णव है फिर भी सुखी नहीं हो पाता है दुख भोग रहा अगर सुख के साधन न हो और कोई व्यक्ति दुख भोगे तब तो क्या किया जाएगा उतना आश्चर्य नहीं होगा लेकिन गंगा जी पास में हो निर्मल जल बह रहा हो और आदमी प्यासा वही तड़प रहा हो तब आश्चर्य की बात होगी बहुत भारी आश्चर्य होगा दूसरा दयालु पुरुष तो दुखी होगा क्या हो गया है दिमाग फेल हो गया और और तब तो आश्चर्य होगा कि गंगा जी के किनारे कोई प्यास बुझाने के लिए कुआं खानना चालू किया कोई पूछे कि क्यों खान रहे हैं अरे प्यास से मर रहा हूँ मत पूछो प्यास से मर रहा हूँ तो ये कुआं क्यों खान रहे पानी के लिए लेकिन कोई दयालु पुरुष बतावे कि गंगा जी की धारा है निर्मल अमृत है और आप ही क्यों नहीं पी रहे उसको ज्ञान हो जाए तो यदि कुआ वो खाना भी है पहले से तो अब तो नहीं खाने का ऐसा नहीं कहेगा जब खा लिया इतना तो और खाने तो मरने दो प्यास कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हम दूसरा पंथ पकड़ लिए अब क्या करें हमको चलने दीजिए आप लोग हरे कृष्ण कीजिए हमको करने दीजिए अरे अब तो गंगा जी की धारा में गोता लगाओ पानी पियो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे अपने गृह को या अपने तथा कथित आश्रम को ही सर्व पुरुषार्थ प्रद आदमी समझ रहा है तो बस बस यही हमको सुख देगा ये देगा वो देगा टीका रहता है पड़ा रहता है जैसे सारस और सारस क्यों कहा गया पक्षी और भी रहते हैं सरोवर के तट पर सारस क्यों कहा गया है सारस कहा गया खास करके स्त्री पुरुष जब खूब अटैच्ड रहते हैं और वे घर में पड़े रहते हैं इसलिए उनकी उपमा सारस से दी गई सारस में बहुत प्रेम रहता है साथ में रहते हैं और उसमें से एक अगर बिछुड़ गया तो दूसरा मर जाता है अपनी आत्महत्या कर लेता है आपस में इतनी आ सकते इतना स्त्री पुरुष लगे रहते हैं अब हम सुखी कर लेंगे अब हम सुखी कर लेंगे अब हम सुखी कर लेंगे लेकिन सारस बनना चाहिए तो भगवान की भक्ति के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए तब तो ठीक है नहीं तो अशांत कृत्यु गृहेशु ग्राम्या दुराशय जलौघे निर्भिद्यंत से तवो वर्षति स्वरे पाषंडिनाम असदवादयी वेद मार्ग कलौ यथा जैसे पाखंडियों के असद वादों से वेद की मर्यादाएं टूट जाती है लोग नियम पालन नहीं करते हैं उसी प्रकार इंद्रदेव इतनी वर्षा करते हैं कभी कभी बरसात में कि सेतु टूट जाते हैं अति पानी के कारण ऐसा देखा गया है कई जगह सेतु टूट जाते हैं अधिक पानी के कारण खेतों के जो बांध होते हैं मेड़ होते हैं वो भी टूट जाते हैं बड़े बड़े बांध भी टूट जाते हैं ज्यादा पानी के कारण तो पाखंडियों का औसतवाद कलयुग में इतना बढ़ जाता है कि जो जीवों पर नियम बनाए गए हैं वेदों के वो सब टूट जाते हैं जैसे खान पान का नियम व्यवहार का नियम नहीं रह जाता खाने में आदमी सब तम्बाकू खाने लगते हैं मांस मछली खाने लगते हैं कलयुग से पहले सब नहीं रहता सब बांध टूट जाता है मर्यादा टूट जाता है किसी भी मनुष्य पर को अपने पर अंकुश रखना चाहिए स्वेच्छा से युग में असद वादों के कारण वेद के नियम का पालन लोग नहीं करेंगे कैसे वाद को असदवाद कहते हैं असदवाद का अर्थ जो नरक में गिराने वाले हैं कुछ ऐसे वाद कुछ ऐसे मत कलयुग में प्रचलित होंगे अब तो हो गए हैं उस समय सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ऐसे मत होंगे जो लोगों को सीधे बिना बाधा के नरक में ले जाएंगे बाधा जाने कि नरक में तब होगी ना जब कोई राम राम बोलेगा कुछ करेगा प्रसाद खाएगा लेकिन कुछ भी नहीं अनावरण एकदम पीच रोड है नरक का ले जाए असदवाद न सदवाद असदवाद जो न पहले था न वेदों में है केवल मन कल्पित है और अपने से ईश्वर की कल्पना करना वेद शास्त्र में जिस ईश्वर का वर्णन है उसको समर्पण नहीं करना भक्ति नहीं करना उसको असर करना विष्णु और श्रुति वेद का विरोध करना या असदवाद संसार भर में असदवाद फैला हुआ है और शब्दवाद जो मनुष्यों को अंकुश में रखता है मर्यादा में और भगवान की भक्ति के पंथ पर चलाता है उसे मिट जाए कल इसकी उपमा दी जा रही है जैसे अधिक वर्षा के कारण सेतु टूट जाते हैं अति प्रचार होता है कलयुग में असलवाद का अति प्रचार अब देखते हैं रोड पर जहां तहां खुलम खुला शराब की दुकान का विज्ञापन है खुलम खुला चारों तरफ यह है मर्यादा का भंग होना एक तरफ सिखाए वैष्णव लोग सिखाते हैं नो इंटॉक्सिकेशन और रोड पर चारों तरफ लीजिए लीजिए लीजिए इंटॉक्सिकेटेड हो जाइए और ट्रक एक्सीडेंट कीजिए रोड पर कम से कम ये तो नहीं बताना चाहिए ना एक तरफ तो सरकार कहती है कि भाई ड्राइविंग मत करो पी करके लेकिन मत पियो कभी नहीं कहती है साहस ही नहीं कहना पियो लेकिन पी कर ड्राइविंग मत करो पी करके सो जाओ चाहे कुछ देर घर पर रहो जब होश आवे तब चलाना चालू पीना मना कर रहे हैं तो रोड पर क्यों शराब की का एडवर्टाइजमेंट है रोड पर तो ड्राइवर बांचते चलेगा ना मन में नहीं होगा वो भी सोचेगा कि क्या होता है जरा देखें ड्राइविंग पूरा करके तब देखेंगे रात को ले जाकर बोतल पिए इतनी मर्यादा समाप्त हो गई वास्तव में मनुष्य में कोई आचार विचार कुछ रह ही नहीं है सिनेमा के नग्न पोस्टर लगाए जाते हैं चारों तरफ सारी मर्यादा ध्वस्त हो गई घर घर में टीवी है और पूरा परिवार मिलकर के टीवी देखता है बाप भी बैठे हैं माँ बैठी है बेटा बैठा है बेटी बैठी है सब देख रहे हैं क्या मर्यादा गई संसार टूट जाता है ऐसा असद प्रचार हो जाता है चारों तरफ की वेद की मर्यादाएं टूट जाती हैं और वेद के जो देव हैं आराध्य देव हैं उनकी कोई पूजा नहीं करता है और अपने से कल्पित देवता की या कल्पित ढंग से पूजा आदि करता रहता है कल्पित ढंग से कुछ पढ़ाई होती है पांच पांच बार तो ये सब असदवाद टूट जाते तो जैसे बाद जीव गोस्वामी जी कहते हैं असदवाद में सबसे बड़ा असदवाद क्या है कि मैं ईश्वर हूँ क्योंकि ईश्वर सब देगा ईश्वर इतना ज्यादा वर्षा करता है तो, तो जीव गोस्वामी का जी कहते हैं कि ईश्वर इति अति वृष्टिया प्रायण कदम से नैव तस्पी स्थानीयता इतिहास ईश्वर शब्द दिया गया है अति वृष्टि तो ईश्वर शब्द का अर्थ है स्वतंत्र तो जो व्यक्ति अपने को स्वतंत्र मानता है और जितना अपने को स्वतंत्र मानता है ईश्वर का अंकुश स्वीकार नहीं करता बल्कि अपने को ही ईश्वर मानता है तो और उसकी मर्यादाएं भंग होती रहती हैं जब कोई व्यक्ति डरेगा कि हमारे ऊपर ईश्वर है हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल देने वाला है वह व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा वो पता लगाएगा कि भाई क्या गलत है क्या सही है लेकिन जिसके जीवन में ये बात ही नहीं अपने को स्वतंत्र मान चुका है ईश्वर का अनुशासन नहीं मानता है तो कुछ भी करेगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद करते हुए कुछ भिन्न किया है अति वृष्ट चली फूट कियारी जिम स्वतंत्र भय विग्रही नारी इसको भिन्न नहीं कहेंगे इसको पूरक कहेंगे अति वर्षा होने से क्यारियां फूट जाती हैं बांध टूट जाते हैं जैसे स्वतंत्र होने पर नारियां बिगड़ जाती हैं अति स्वतंत्र भय जिमी स्वतंत्र भय विग्रह स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए पति पुत्र या अन्य स्वजनों के अधीन रहना चाहिए शिक्षा ऐसे ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है <laughs> तुलसीदास वाले ज्यादा प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है अब पुनः दानियों के विषय में सुने व्यमुंचन वायुभिर्नुन्ना मृतम घना जथा शिशो विस्पत काले काले द्विजे ब्राह्मणों के द्वारा अर्थात पुरोहित आदि के द्वारा ईरिता प्रेरिता विटपतय जनाध्यक्ष राजान काले काले उचित काले आशीष कामान अर्थिभ्य विमुंचंती तथा नुन्ना प्रेरिता घना च भूतेभ्य अमृतम अमृतवत जीवन हेतु जलम विमुंचन जैसे राजागण या बड़े बड़े व्यापारी गण पुरोहित आदि के द्वारा प्रेरित होकर समय समय पर बहुत सी वस्तुएं दान देते हैं बिताते हैं बांटते हैं इसी तरह से बादल समूह